तृतीय मंत्र का पद भाष्य चला था छब्बीस में चौतीस में हाँ, हाँ, ऊपर पहले अन्यो ही स्वात्मा बुद्धियादि कार्य कार्यार्थम ही कारणम अन्यत अन्य उपादीयते अतच न वेदितुर अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यद उपादेय भवती एतेवं विदिता वितत्ताभ्याम अन्यदिति हेयोपादेय प्रतिषेधन स्वात्मनो अन्यन्यत्वात् ब्रह्म विषय जिज्ञासा शिष्यस्य से निवर्तिता स्यात् नहि अन्यस्य टीका में दिया इसका तात्पर्य विदिता वितत्ताभ्याम अन्यत तो विदितत्व अविदितत्व निषेधेन विदित आत्मा विदित नहीं अविदित नहीं विदितत्व अविदितत्व दोनों का निषेध करने से वेदितु स्वरूपम ब्रह्म इत्यत्र तात्पर्यम आगमस्य अन्य देव तद विदिताद अथवा विदितादधि इसी श्रुति वाक्य का तात्पर्य वेदितु स्वरूपम ब्रह्म भिन्न का निषेध कर दिया तो अपने स्वरूप ही ब्रह्म नहि अन्यस्य स्वात्मन विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वम वस्तुन संभवति इति आत्मा ब्रह्म इत्येष वाक्यार्थ आत्मनो अन्यस्य नहीं अन्यस्य आत्मनो आत्मा से भिन्न कोई विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं विदित अविदित से भिन्न हुआ होगा आत्मा से जितने अन्य सब विदित अविदित के अंतर्गत आ गए विदित अविदित से भिन्न हो और आत्मा से भिन्न ऐसे कोई वस्तु न संभवती आत्मनो अन्यस्य वस्तुना विदिता विदिताभ्याम अन्य तो नहीं संभवती विदित अविदित दोनों से भिन्न आत्मा से कोई अतिरिक्त वस्तु न संभव नहीं है अतिरिक्त नहीं का अर्थ आत्मा ही ब्रह्म विदित अविदित से भिन्न आत्मा से अन्य कोई नहीं तो आत्मा ही ब्रह्म है आत्मा ब्रह्म सब वाक्य का अर्थ हुआ अन्य देवता दिविदिता तथा विदिता तथि इसी श्रुति वाक्य का आत्मा ही ब्रह्म इसमें और श्रुति प्रमाण है अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा अपहत पापमा यह साक्षात अपरुषात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्यश्च अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा ही ब्रह्म में ब्रह्म है अयम आत्मा कह करके प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है यह आत्मा अपहत पापमा जो आत्मा पाप पुण्य से रहित शुद्ध है वही ब्रह्म है पाप पुण्य रहित यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म जो साक्षात अपरोक्ष ही ब्रह्म है साक्षात अपरोक्ष प्रमाण व्यापार के बिना अपरोक्ष ही ब्रह्म है यह आत्मा सर्वांतर सबके अंदर यह आत्मा सर्वांतर यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म वही की श्रुति है जो अपरोक्ष ब्रह्म वह सर्वांतर वही है आत्मा है अन्य श्रुति प्रमाण से ये आत्मा ही ब्रह्म इत्येवं सर्वात्मन सर्वविशेषरहितस्य चिन मात्र ज्योतिषो ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य वाक्यस्य आचार्य उपदेश परंपराया प्राप्तत्व आह इसी प्रकार सर्वात्मन सर्वविशेष रहितस्य ब्रह्मत्वम जो सर्वात्मा है सर्वविशेष रहित निर्विशेष है सबका आत्मा निर्विशेष एक है सर्वात्मा सर्वेषां आत्मा सर्वात्मा तस्य सर्वात्मन सबका आत्मा एक है जो कि सर्वविशेष रहित है सब विशेषता रहित निर्विशेष है उसका स्वरूप चिन्मात्र ज्योति चिन्मात्रम ज्योति जैसे ज्योति प्रकाश चिन्मात्र प्रकाश अन्य कोई बाह्य प्रकाश आलोक नहीं चिन्मात्र चेतन ज्ञान रूप प्रकाश है चिन्मात्र ज्योति मात्र ज्योति जिसकी उसका ब्रह्मत्व प्रतिपादक वही ब्रह्म है जो सर्वात्मा निर्विशेष चिन्मात्र स्वयं प्रकाश वही ब्रह्म इसमें ब्रह्मत्व प्रतिपादक से वाक्यस्य अन्य देव तद विदितात अथवा विदितात आदि जो वाक्य है आचार्य उपदेश परंपरा प्राप्त माह आत्मा ब्रह्म ही इसको उपदेश करने वाली श्रुति वाक्य वो भी आचार्य परंपरा से प्राप्त है आचार्य परंपरा प्राप्तत्व माह इति सुश्रुमधीराणाम ये न तत् व्यास ब्रह्म चैतन्य ब्रह्म चैवम आचार्य उपदेश परंपरा अधिगंतव्यम न तर्कतः प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपय यज्ञादिभ्यश्चैत एवं श्रुम श्रुतवंत वयम पूर्वेषाम आचार्याणाम वचनम एव आचार्य उपदेश परंपरा आचार्य के उपदेश परंपरा से ही ब्रह्म अधिगंतव्यम ज्ञातव्यम साक्षात कर्तव्यम ब्रह्म का ज्ञान इसे आचार्य उपदेश परंपरा से ही करना है न तर्कत तर्क करके तर्क श्रवण करने के बाद कैसे संभव है ये संभावना के लिए श्रुतिमूलक तर्क अनुसंधान करना आवश्यक है संशय निवृत्ति के लिए प्रमेय संशय की निवृत्ति के लिए ये प्रपंच नेह नानास्ति स्मृति कहती प्रपंच है ही नहीं दिखता है प्रपंच नहीं कैसे होगा दिखने पर भी नहीं है ये तर्क से सिद्ध होता है जैसे स्वप्न प्रपंच दिखता है दिखने पर भी नहीं है जगने पर निश्चित होता है तो दिखता है तो सत्य होगा कोई जरूर नहीं है और प्रपंच दृश्य प्रपंच जैसे स्वप्न प्रपंच दृश्य मिथ्या है जागृत प्रपंच भी दृश्य होने के कारण मिथ्या है इस प्रकार तर्क से तो श्रवण मात्र से जो ज्ञान हुआ उसमें कोई प्रमेय संशय हो उसकी निवृत्ति के लिए तर्क की आवश्यकता है और आचार्य परंपरा से उपदेश प्राप्त नहीं करके केवल तर्क से कोई निश्चय कर देगा ये संभव नहीं है न तर्कतः तर्क मात्र से नहीं हो सकता है श्रुति कहते नायम आत्मा बल ये प्रवचन न मेधया बलहीन लभ्य नायम आत्मा बलहीन लभ्य आगे न तपसा और नाय आत्मा प्रवचन लभ्य अलग है नाय आत्मा बलहीन लभ्य नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुश्रुतेन तो प्रवचन मेधा बहुश्रुत और तपो यज्ञ आदि भी तप यज्ञ आदि भी साधन है प्रवचन है अध्यापन मेधा ग्रंथ धारण शक्ति बहु श्रवण ये सब साधन है किंतु इतने मात्र से नहीं है केवल साध्य अध्यापन मात्र से ग्रंथ धारण शक्ति मात्र से बहु श्रवण से केवल तप से यज्ञ आदि कर्म से ये सब जितने करने पर भी इतने मात्र से नहीं ये तो गुरु परंपरा से ये सब तो अंतगुण शुद्धि के लिए साधन है शुद्ध अंतगुण होने पर आचार्य उपदेश ही ज्ञान होता है इति सुषुम का तो श्रुतवंत वयम पूर्वेशाम वचन पूर्वाचार्य का वाक्य से सुनने हुए तो ये श्रुति में कही जाती ये आचार्य परंपरा श्रुति में ही आचार्य परंपरा होने से आचार्य परंपरा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है यह आचार्य ये आचार्यन अस्मभ्यम तद ब्रह्म व्यास चक्षिरे व्याख्यातवंत विस्पष्टम कथितवंत तेषाम इत्यर्थ ये आचार्य न न का तस्मभ्य हमारे कह उपदेश किया तद ब्रह्म व्यास चक्षिरे व्याख्यातवंत व्याख्यान किया था वी आंग ब्रोक चक्षिंग धातु है तो विस्पष्टम कथितवंत स्पष्ट रूप से कहा आचार्यों ने तेषाम इत्यर्थ तेषाम वचनम हमने सुना है आचार्याणाम वचनम स्पष्ट उन्होंने कहा था तो ये आचार्य परंपरा से ही साक्षात्कार होता है ये श्रुति प्रमाण है इसमें पदभाष्य पूरा हुआ तृतीय मंत्र का भी वाक्य भाष्य देखना है न तत्र चक्षुर गच्छति तुक्तेपि पर्योनियोगे हेतुर प्रतिपते प्रतिपत्ते ये संग्रह वाक्य हुआ टीका में दिया न तत्र चक्षुर गच्छति इति वाक्यार्थम संग्रहणाति न तत्र चक्षुर गच्छति नो मन इत्यादि श्रुति वाक्य श्रुति वाक्य के अर्थ को पहले संग्रह करके संक्षेप करके कहते भगवान वासिकार संग्रह संग्रहणाति संग्रह करके संक्षेप से कहते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति इति संगृणाति न तथा चक्षुर्गछति दुक्ते परियोनियोगे हेतु प्रतिपते उक्ते परियोनियोगे अप्रतिपते परियोनियोगे हेतु न तत्र गच्छति फिर प्रश्न कर न तत्र चक्षु गच्छति क्यों शिष्य को आचार्य ने उपदेश किया उपदेश करने पर भी शिष्य को ज्ञान नहीं होता शिष्य फिर पूछता है तो इसलिए आचार्य कहते हो ज्ञान उसका दुर्लभ ज्ञान नहीं होता है इसलिए शिष्य पूछता है ज्ञान क्यों नहीं होता है इसलिए श्रुति कहती न तत्र चक्षुयते हेतु अप्रतिपत्ते हेतु आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता है नहीं होने में हेतु परियोनेगे अप्रतिपत्ते है परियोने आक्षेप होने में हेतु है इसका अर्थ टीका में आचार्यण उक्तेपि तत्व आचार्य ने उपदेश किया तत्व उक्ते तत्व का उपदेश करने पर भी शिष्य से अप्रतिपत्तिर हेतुर परियनेगे हेतुर न तत्र चक्षुषिति शिष्य से अप्रतिपत्तिर हेतु हो शिष्य का अज्ञान ही हेतु है अप्रतिपति हेतु है किसका हेतु है पर्यनुयोगे पर्यनुयोगे हेतु है शिष्य से प्रतिपति पर्यनुयोगे शिष्य फिर पूछता है बार-बार पर्यनुयोगे हेतु कौन हुआ अप्रतिपत्ति अज्ञान अज्ञान के कारण शिष्य पूछता है फिर शिष्य उसमें क्या ऐसा है तत्व के लिए बार-बार जब तक ज्ञान नहीं होता शिष्य तत्त तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन परिप्रश्न सेवया तो प्रश्न शिष्य फिर प्रश्न का परियोनियोग पुनः तो न परित अनुयोग प्रश्न आक्षेप करता है किसलिए अप्रतिपत्तिर हेतु अप्रतिपत्ति रूप हेतु से पूछता है जो हेतु है बार-बार पूछने का हेतु क्या हुआ अप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति रूप जो हेतु है वो अप्रतिपत्ति का हेतु क्या है अप्रतिपत्ति अज्ञान अज्ञान क्यों क्यों ज्ञान नहीं होता है अप्रतिपत्तिर हेतु न तत्र चक्षु गच्छति इति परियोने के हेतु अप्रतिपति अप्रतिपति रूप जो हेतु है अप्र जो हेतु अप्रतिपति उसका हेतु क्या है उसका हेतु का उसका कारण अप्रतिपति हो गया हेतु परियोने के शिष्य का प्रश्न करने में हेतु हो गया अज्ञान क्यों ज्ञान नहीं होता है उसका हेतु तो है न तत्र चक्षुवशति किंतु ज्ञान नहीं होता अज्ञान ज्ञान का प्राग भाव ज्ञान नहीं होता है उसका कारण घट कपाल हो तो घट बन जाएगा और घट क्यों नहीं बना क्योंकि कपाल नहीं है कपाल भाव घट भाव का हेतु हो जाएगा हेतु कपाल सत्व घट सत्वम घटा घटाभाव अन्य व्यतिरिक से सिद्ध होता है कपालम घट से हेतु कपाल घट का कारण और कपाल नहीं तो घट नहीं बनेगा इसलिए कपाल अभाव घटाभाव का हेतु कारण होगा कपाल अभाव घटाभाव का कारण नहीं होता है कपालान पर घट बन जाता है तो घट भाव होता है घट का प्राग अभाव कपल आने पर घट बनेगा घट बनने के पहले घट का जो अभाव उसका क्या नाम है प्राग भाव उत्पन्न होता है क्या अनादि तो अनादि प्राग भाव का हेतु कैसे होगा कपाल भाव अनादि जो घट भाव उसका हेतु कपाल भाव नहीं हो सकता प्राग भाव इसलिए वहां कहते प्रयोजक कारणाभाव कार्य अभाव का हेतु नहीं होता है प्रयोजक होता है लोक में से कह देते कपड़ा नहीं होने से घट नहीं बना भात क्यों नहीं बनाया चावल नहीं है चावल नहीं होने से भात नहीं बना तो भात नहीं बनने का कारण तंडुल का भाव ओदन अभाव का कारण तंडुल भाव तंडुल भाव से ओदन अभाव की उत्पत्ति हुई क्या इसलिए वहां कारण शब्द कह देते वो प्रयोजक कहते हैं भात नहीं बनने का कारण है चावल नहीं है चावल नहीं उनसे नहीं बना चावल हो तो बन जाएगा तो भात नहीं बना मात्र उदन का प्राग भाव किसके कारण है केन प्रयुक्तम तंडुल अभावेन प्रयुक्तम उदनाभाव तंडुल अभाव हो गया प्रयोजक उदनाभाव का हेतु सब नहीं है इसी प्रकार यहाँ जो हेतु है अप्रतिपत्ति का हेतु अप्रतिपत्ति ज्ञान नहीं होता है शिष्य को क्या कारण है वो कारण न तत्र चक्षुर गच्छति अर्थात प्रयोजक ये टिप्पणी में दिया है अंत में शिष्य से अप्रतिपत हेतु अज्ञान रूप हेतु का आचार्युक्त तत्व विषय के अप्रतिपत्ति प्रयुक्ते परियोनगी अप्रतिपत्ति प्रयुक्ते अज्ञान के कारण ही प्रश्न होता है तत हेतु हो गया न तत चक्षु इत्यादि ना उत्तम तो शिष्य को आचार्य ने उपदेश किया तो भी शिष्य का ज्ञान नहीं अज्ञान हुआ अज्ञान रहा इस हेतु से प्रश्न करता है उसका हेतु अज्ञान क्यों ज्ञान नहीं होता है प्रश्न करने का हेतु क्या है अप्रतिपति अप्रतिपति का हेतु है ज्ञान नहीं होने का प्रयोजक हुआ न तत्र चक्षुर्गच्छति इति एतद् विवृणति इसका विवरण भगवान भाष्यकार स्वयं करते श्रोत्र से श्रुतमितेव ये उपदेश किया आत्म तत्व सूत्र का सूत्र चक्षु का चक्षु मन का मन इतम आदिन उक्ति एवं आदिना वाक्येन इस प्रकार वाक्य के द्वारा एवं आदिना उक्तेपि आत्मतत्व एवं आदिन एवं आदिना वाक्येन न तत्र चक्षु इत्यादि वाक्य श्रोत्र हम्म। से श्रोत्रम चक्षु से चक्षु मन का मन प्राण का प्राण ये सब कहा ऐसे वाक्य के द्वारा उपदेश करने पर भी आत्मतत्व का उपदेश किया गया उक्ते पे आत्म तत्व आत्म तत्वम उक्तम केन हैं आचार्यन आचार्यन उक्तम केन उक्तम श्रुत्र से श्रोत्रम इत्यादिना वाक्येन श्रुत्र से श्रोत्रम इत्यादिना उक्ते पे आत्म तत्व आचार्यन आत्म तत्वम उक्तम तथापि अप्रतिपन्नत्वात् ज्ञान नहीं हुआ शिष्य को क्यों नहीं हुआ सूक्ष्मत्व हेतु और वस्तु न वस्तु न सूक्ष्मत्वात् आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए ज्ञान नहीं हुआ स्थूल विषय का भी थोड़े एकाग्रता नहीं हो व्याकरण में कोई सूत्र अर्थ करते तो भी नहीं ज्ञान होता है सरल से एकाग्र होने पर भी सबके साथ एक साथ ज्ञान नहीं होता है और आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए सूक्ष्म के सूक्ष्म सूक्ष्मत्व हेतु ज्ञान नहीं हुआ वस्तुनः पुनः पुनः परिअनुयुक्षा कारणम आ पुनः पुनः परिअनुयुक्षाया कारणम कारण है अज्ञान बार-बार पूछने का कारण कहते हैं न तत्र चक्षु गच्छति पुनः पुनः परिअनुयुक्षा अनुयुक्तमिच्छा बार-बार शिष्य पूछना चाहता है शिष्य वर्ग सब बार-बार पूछते पुनः पुनः करते क्या है क्या है तत्व फिर आक्षेप करते आत्म तत्व कैसा है कारण महा न तत्र गच्छति इति तत्र श्रोत्रादि आत्मभूते चक्षुरादिनि वाक् चक्षुष सर्वेन्द्र उपलक्षणात्वात् न विज्ञानम उत्पादयन्ति न तत्र गच्छति तत्र का श्रोत्रादि का आत्मभूत आत्मा में ब्रह्म चक्षुरादिनि चक्षुरादि इंद्रिय नहीं जाती है आदि में कैसे आया वाक चक्षुष सर्वेन्द्र उपलक्षणार्थत्वात् न तत्र चक्षुर गच्छति नो वाग नो मन चक्षु वाग दो नाम ले लिया एक ज्ञानेन्द्र चक्षु और वाग कर्मेंद्रिय एक एक इंद्र का नाम ले लिया सुखत उपलक्षण तद ग्राहकत्व से तद इतर ग्राहकत्व सब इंद्र को लेने के लिए दो नाम ले लिया वाग चक्षुषो सर्वेंद्र उपलक्षणार्थ तो सर्वेंद्र उपलक्षण के लिए चक्षु कहा इसलिए कोई भी इंद्रिय उसको विषय नहीं करते आत्म तत्व को इंद्र का विषय है न विज्ञान उत्पादित विषय करने का अर्थ चक्षु रूप को विषय करने का अर्थ रूप विषय का ज्ञान जनक चक्षु है घ्राण इंद्र गंध को विषय करती है गंध विषय का ज्ञान जनक है किंतु आत्म तत्व को कोई इंद्र विषय नहीं कर पाती अर्थात किसी भी इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय आत्मा नहीं होता है आत्मा विषय के विज्ञानम न उत्पादयन्ति इंद्रियाणि चक्षुरादीनि इंद्रिया चक्षुरादि इंद्रिय आत्म तत्व विषय के विज्ञान उत्पादक नहीं होती है सुखादिवत्तरि गृहीत अंतकणेन अतः सुख किस इंद्रिय से सुख का ग्रहण होता है कर्म इंद्रिय से या भाग इंद्रिय से दुख नहीं कर्म इंद्र ज्ञान इंद्र से होता है कि मन से होता है तो यदि बाह्य इंद्र के द्वारा ग्रहण नहीं होता है सुख दुख तो मन से तो ग्रहण होता है अंतगण से तो आत्म तत्व का सुख आदि के समान बाह्य इंद्र से चक्षु आदि वाग आदि इंद्र के द्वारा ग्रहण नहीं हो सुखादिव तरी गृहेत तो अंतकणे न अंतकण से ग्रहण हो जाए अतः नो मन मन भी नहीं ग्रहण विषय करता है न तत्र वागच्छति न चक्यु न मन मनोपि न गच्छति मन भी उसका विषय नहीं कर पाता है न सुखादिवत मनसो विषय तत् तत् आत्मतत्वम आत्मतत्वम सुखादिवत मन का विषय नहीं होता है जैसे सुखादि मन का विषय है नहीं होता है सुखादि मन का विषय तो होते हैं किंतु आत्मतत्व मन का विषय तो यहाँ दृष्टांत व्यतिरेकेण दृष्टांत कहते इसको सुखादिवत मनस्य विषय तत् न भवति सुखादि तो विषय है मन का मन जैसे मन का विषय सुखादि होते इस प्रकार आत्म तत्व मन का विषय नहीं होता है क्यों नहीं होता है टीका है में आत्मा नेन्द्रिय विषयो अभौतिकत्वा नर आत्मा इंद्र का विषय नहीं है क्योंकि भौतिक नहीं है भौतिक नहीं उनसे इंद्र का विषय नहीं होगा इसे दृष्टांत नर विषाण नर विषाण जैसे इंद्र का विषय नहीं है आत्मा भी इंद्र का विषय नहीं होगा कोई भौतिक पदार्थ नहीं मनश्च इंद्रियम प्रसिद्धम तत तस्याप्य विषयत्या मन भी इंद्र आत्मा इंद्र का विषय नहीं है मन का भी विषय नहीं वो भी इंद्र है इंद्रिया विषयत्वाद इति इंद्र का विषय नहीं इंद्रिया विषयत्वाद मन का भी विषय नहीं आगे न विद्म न बिजानिमो अंतकरणे न यथेतद ब्रह्म मनादिकरण जातम अनुशिष्याद सातन कुर्यात प्रवृत्ति निमित्तं भवेत तथा विषयत्वा न विद्म न बिजानिमो न विद्मो न विजानिमो अंतकरणेन यते तद ब्रह्म हम नहीं जानते न विद्म स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं अंतकरणेन यते तद ब्रह्म मनादि कर्ण जातम अनुशिष्याद मनादि को किस प्रकार प्रेरणा करे ऐसा नहीं जानते अंतकर्ण से भी नहीं जानते अनुशासन कुर्यात अर्थात तो प्रवृत्ति निमित्तम भवेद इन मन आदि इंद्रिय वर्ग के प्रवृत्ति का निमित्त आत्म तत्व कैसे होता है जो आत्म तत्व निर्विशेष कुछ ही नहीं निर्विशेष कोई विशेष रही है नहीं है तो मन या चक्षुर आदि इंद्रियों को प्रेरणा कैसे करता है उनकी प्रवृत्ति का निमित्त कैसे होगा प्रवृत्ति निमित्तम भवे तथा अविशेषत्वात न विद्म न विजानीव विषय नहीं होने के कारण इंद्रिय आदि का विषय न होने से हम उसको नहीं जानते न विजानी में स्पष्ट रूप से नहीं जानते टीका में न विद्मो न विजानीम इत्यादि अभ्यास सर्वथा अंतकणा विषय तो ज्ञापनार्थ न विद्म कहकर फिर न विजानीम विद ज्ञान में ज्ञान था तो फिर न विजानीम न विद्मो न विजानीम इत्यादि अभ्यास बार-बार कथन किया गया है बार-बार कथन करने का अभिप्राय क्या है सर्वथांतकणा विषय तो क्या ख्यापनाथ अंतकण का विषय है ही नहीं किसी प्रकार सूक्ष्म होने के कारण अंतकण का विषय नहीं दुर्विज्ञ सर्वथा सर्व प्रकार किसी प्रकार अंतकण से ज्ञेय नहीं होता है बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्र अंतकण किसी के द्वारा नहीं न विद्म न बीजानिम में आक्षेप परतया व्याख्याय हम नहीं जानते कैसे ये प्रवृत्ति का निमित्त होता है मनाद इंद्रियों को प्रेरणा करता है कैसे प्रेरणा करेगा हम नहीं जानते नहीं समझ पाते नहीं पाते निर्विशेष आत्मा होता हुआ सब इंद्रियों का प्रवृत्ति निमित्त कैसे होता है ये आक्षेप करके अर्थात तो संभव नहीं है निर्विशेष होकर के मन इंद्रिय प्राण आदि सबको प्रेरणा कैसे कर सकता है ये आक्षेप परत व्याख्याय आक्षेप पर व्याख्यान हुआ नहीं जान नहीं जानते कैसे प्रवृत्ति निमित्त हो शंकोत्तरत्वेन व्याचष्टि शंका का उत्तर संशय करते शिष्य उसका उत्तर अथवा अथवा श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि लक्षण ब्रह्म विशेषण दर्शयति उक्ते आचार्याः न शक्यते दर्शयितुम कस्मान् न तत्र चक्षुर गच्छति इत्यादि पूर्ववत सर्वम आचार्य को प्रश्न करते शिष्य वर्ग अथवा श्रोत्रादिनाम श्रोत्रा श्रोत्र का श्रोत्र चक्षु का चक्षु मन का मन ऐसा जो आपने कहा श्रोत्रों के जो श्रोत्र आदि स्वरूप ब्रह्म विशेषण दर्शय साफ साफ देखा दीजिए यही ब्रह्म है से तो भाग हम किससे प्रेरित होकर सब इंद्रिय व्यापार करते हम प्रश्न पूछते तो सीधा दिखा दो जैसे सिंह पकड़ के बताते यही गौ है ये नहीं करके वो चक्की के चक्की श्रोत्र का दी क्या थोड़ा विशेष रूप से दिखाई ऐसा कहने पर आचार्य कहते न शक्यते दर्शयितुम नहीं दिखा सकते इदम इत्तम करके श्रृंग ग्रहण करके कस्मात न तत् चक्षु गच्छति इत्यादि पूर्वत इंद्र का विषय नहीं है चक्षु मन आदि का कैसे दिखाएंगे इत्यादि पूर्व सर्वम तो आक्षेप पड़ता था ये शंका उत्तरत्वेन तो हुआ अत्र तो विशेष यथेतत थी पहले था यथेत अनुशिष्यात का था एतद ब्रह्म जिस प्रकार सब को अनुशासन करे सब को प्रेरणा करे सब इंद्रिय की प्रवृत्ति का निमित्त कैसे हो ये हम नहीं जानते हैं ये पहले कहा था अभी क्या कहेंगे यथेतद अनुशिष्यात पहले एतद प्रथमाते ये ब्रह्म जैसे प्रवृत्ति निमित्त हो हम नहीं जानते अभी कहते यथे तद इस ब्रह्म का जैसे उपदेश किया जाए यथे तद अनुशिष्यात यथा तद अनुशिष्यात प्रतिपादयते द्वितीयांत हो गया जिस इस ब्रह्म को जिस प्रकार किस प्रकार उपदेश किया जाए जा सके हम नहीं जानते हैं इंद्र का विषय नहीं तो उसको कैसे उपदेश करेंगे उपदेश किस प्रकार किया जाए हम नहीं जानते यथेतद अनुशिष्यात प्रतिपादित शिष्यों के लिए कैसे प्रतिपादन करे शिष्य पूछते तो ठीक ठीक करे अब बताए तो हम नहीं जानते किस प्रकार प्रतिपादन किया जाए इत उपलक्षण प्रकाराद अन्यन प्रकार न शक्यते दर्शयितुम यथेतदनुशिष्यात् यथेतदशिष्यात् शिष्यात् अनुशिष्यत प्रतिपादे जिस प्रकार प्रतिपादन करे ये नहीं जानते अन्योपि शिष्यान इतो अन्यन विधिना इत अभिप्राय अन्य भी कोई प्रतिपादन करे शिष्यान शिष्य को इतो अन्यन विधिना हम जैसे कहते हैं चक्षु के चक्षु श्रोत्र के श्रोत्र जैसे हमने कहा ऐसे अन्य विधिना अन्य प्रकार ना अन्य भी आचार्य अन्य शिष्य को कैसे उपदेश करे हम नहीं जानते हैं दूसरे कोई प्रकार है ही नहीं न जानते का था अर्थात उपदेश करने के लिए कोई इसी प्रकार से अन्य प्रकार उसका उपदेश हो नहीं सकता है हम नहीं जानते हैं इत उपलक्षण प्रकारत अन्य प्रकार हम जैसे का उपलक्षण चक्षु के चक्षु श्रोत्र से श्रोत्र आदि कह करके चक्षु आदि का जो प्रेरक वही आत्मा है ऐसे चक्षु में क्रिया होती है क्रिया का प्रेरक कोई है जो प्रेरक हुई आत्मा इसी उपलक्षण रूप से कहा काकव देवदत्त से गृहम काक कोई उसमें है ही नहीं हमेशा परिचय है जिस प्रकार काक को देकर काक उड़ जाने पर भी घर का परिचय हो गया इसी प्रकार श्रोत्र में प्रवृत्ति होती जड़ में जड़ में प्रवृत्ति होती तो कोई चेतन होना चाहिए प्रेरक वो जो चेतन है वही तो ब्रह्म है इसे उपलक्षण प्रकार तो अन्य प्रकार ना न शक्यते दर्शयितुम अन्य किसी प्रकार दिखा नहीं सकते जैसा हमने कहा उसकी अपेक्षा अन्य कोई नहीं विदित अविदित सब का निषेध करके स्वरूप ब्रह्म ऐसा कहा जा सकता है अन्य किसी प्रकार नहीं कह सकते क्योंकि क्रिया गुणादि विशेष शून्यत्वादि तीर्थ जिसमें क्रिया होती है वो क्रिया को दिखा देंगे जो छेदन करता है वो लाभक जो पचन भोजन बनाते वो पाचक जो पढ़ाते हो शिक्षक जो दौड़ता है वो गंता ये तो सब क्रिया को लेकर कह देंगे और गुण को लेकर भी कहते हैं जो नीला नीला दिखता है तो नीलम जो मधुर लगता है तत्फलम बता दिए फल देखो जो दिखता है कोई गुण को लेकर के नीलम मधुरम अम्लम इत्यादि गुण को लेकर शब्द प्रयोग होता है आत्मा में कोई गुण नहीं और निष्क्रिय है निर्गुण है आदि से कोई जाति भी नहीं है अनेक व्यक्ति में एक जाति रही आत्मा एक अद्वितीय तत्व है उसमें कोई जाति नहीं और कोई संबंध भी नहीं हुई है पुरुष संबंध लेकर कहे कि दंडी कुंडली दंड जिसमें हो वो पुरुष है दंडी चैत्र दंडी चैत्र है तो दंडी आदि दंड संबंध से विशेषण से गुण से क्रिया से जाति से तो कहते हैं कि यहाँ गुण क्रिया आदि विशेष शून्यत्वाद गुण क्रिया जाति संबंध विशेष नहीं है इसे इसको दिखा नहीं सकते अन्य प्रकार से भाष्य में सर्वथा भी ब्रह्म बोधयित उक्तय आचार्य फिर सर्वथा भी फिर शिष्य कहते फिर कैसा तो थोड़ा उपदेश कीजिए ब्रह्म बोधयित उक्तय आचार्य कहते अन्य देव तद विदिता तथ अविदिता तदि त्यागम श्रुति वाक्य है तद विदिता अन्यद अभिदेता दधि विदिता विद्याभाम अन्यत्वम श्रुति कहती विदित अविदित उसे भिन्न है टीका में अन्यद आत्मन विदितम अविदितम वा स्यात् आत्मन आत्मा से भिन्न जितने पदार्थ है या तो विदित होगा नहीं तो अविदित होगा आप कुछ वस्तु जानते कुछ नहीं जानते आपसे भिन्न जितने है वो विदित हो था तो विदित हो आदि प्रति विदितत्व अविदितत्व निषेध है ना आत्मन अन्यत्र ब्रह्मत्वम विदुषा विदुषा विनिवर्त्य आत्मा ब्रह्म ही उपदिष्टम भवति विदित अविदित दोनों का निषेध कर दिया अन्य देव विदिता अतो अविदितात तो अधि अथ विदित सन्य अविदित सन्य ऐसा कह करके श्रुति क्या करती आत्मन अन्यद विदितम अविदितम वा स्यात् आत्मा से भिन्न या तो विदित या तो अविदित होगा आत्मा में विदितत्व और अविदितत्व दोनों नहीं है अन्य पदार्थ जो ब्रह्म है ब्रह्म से भिन्न पदार्थ विदित अविदित है और आत्मा विदित भी नहीं अविदित भी नहीं आत्मा से भिन्न विदित है अविदित है कोई विदित कोई अविदित है और तत्व अविधि तत्व निषेध कर दिया आत्मा में ने नहीं तत्व नहीं अर्थात आत्मा भिन्न कोई ही नहीं आत्मा से भिन्न ही विदित अविदित भिन्न में तत्व रहेगा तत्व रहेगा आत्मा में तत्व रहेगा तत्व दोनों का निषेध कर देने से निषेधन आत्मन अन्यत्र फिर ब्रह्म आत्मा से भिन्न कहाँ ब्रह्म आत्मा से भिन्न होगा आत्मा से भिन्न विदित अथवा अविदित ब्रह्म दोनों नहीं अर्थात आत्मा से अन्य नहीं यदि आत्मा से अन्य होता तो विदित अथवा अविदित होता विदित नहीं अविदित नहीं तो आत्मा से अन्य नहीं आत्मा न अन्यतर ब्रह्मत्वम विदुषाम विनिवर्त्य विद्वान के लिए समझदार विवेकी के लिए जब आत्मा से भिन्न है ब्रह्म तो ऐसी बुद्धि होती उसके निवृत्ति करके भिन्न जितने विदित अविदित वो दोनों नहीं ब्रह्म दोनों से विलक्षण कौन से आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं आत्मा ब्रह्म इति उपदिष्टम आत्मा से भिन्न ब्रह्म कोई नहीं है आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं मतलब फिर ब्रह्म कौन आत्मा ही स्वरूप ही ब्रह्म ये उपदिष्टम भवति विदिता अन्यत्य युक्तिमा विदित से अन्य क्यों आत्मा युक्ति कहते हैं ब्रह्म विदित ज्ञात से अन्य क्यों यो ही ज्ञाता सैव स जो ज्ञाता ही तो ब्रह्म है तो विधि तो कैसे होगा अपने से भिन्न विधि तो होता है ये तो स्वयं ज्ञाता है सैव आत्मा सर्वात्मकत्व तो आत्मा सर्वात्मा के सब का आत्मा एक ही है इसलिए ज्ञाता दृग रूप है वो विधि तो नहीं होगा उससे भिन्न कुछ विधि तो होगा जो अध्यस्त वस्तु अतः सर्वात्मनो ज्ञातुर ज्ञात्यं ज्ञान त्र्यंतर अभावात विदिताद अन्यतम सर्वात्मन ज्ञातो आत्मा ही सर्वात्मा है जो ज्ञाता है वही सर्वात्मा सबका आत्मा जो सबका आत्मा वही ज्ञाता है उससे भिन्न कोई ज्ञाता श्रोता दृष्टा नहीं है नान्य अतोस्ति दृष्टा श्रोता मनता ज्ञाता आदि कोई अलग ही नहीं तो सर्वात्मक जो आत्मा वही ज्ञाता उसको जानने के लिए कोई दूसरा ज्ञाता है ही नहीं नान्य अतो से दृष्टा श्रोता मंत्र श्रुति कहती यह आत्मा से भिन्न कोई दृष्टि श्रोत्र मंत्री कोई है ही नहीं तो ज्ञात्रंत्र भावा तो दूसरा कोई ज्ञाता है ही नहीं सर्वात्मा एक ही है उससे अतिरिक्त कोई ज्ञाता है ही नहीं तो विदिता अन्यतम विदित जितने है उससे भिन्न है विदिता अन्यतम सर्वात्मा ज्ञाता उसका कोई ज्ञाता नहीं है वो ज्ञाता कोई दूसरा होता तो विदित होता कोई दूसरे ज्ञाता नहीं होने से आत्मा ज्ञा विदित नहीं होता है तो विदित नहीं मतलब विदिता धन्यत्वम सवेत वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता इति च मंत्र श्वेता श्वेताश्वेतर उपनिषद माया सवेत वेद्यम सवेद्यम वेत्ति वेद्य ज्ञे पदार्थ को सब को प्रकाश करता है आत्मा ब्रह्म न च तस्यास्ति वेत्ता उसको जानने वाला कोई दूसरा ही नहीं सब को जानने वाला है इस पर स्वयं प्रकाश है उसको प्रकाश करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं थी मरे केन बीजान्यात इति च वाजसनेय के में याज्ञवल्क्य ने कहा अरे मैत्री ज्ञातारम केन बीजान्यात जो सबका ज्ञाता प्रकाशक उसको फिर किससे प्रकाश करे इति च वाजसने के सूर्य सबका प्रकाशक है सूर्य को प्रकाश करने के लिए कोई सजातीय प्रकाश जरूरत नहीं पड़ता है सबका प्रकाशक ब्रह्म है उसको फिर किससे प्रकाश करेगी बाकी जितने पदार्थ सब प्रकाश्य कोई उसका प्रकाशक नहीं है प्रकाश्य घट दीप को प्रकाश नहीं करता है प्रकाशित दीप से प्रकाशित होता है ब्रह्म से भिन्न जितने सब प्रकाश्य है कोई प्रकाशक है नहीं केन भी जानी आत टीका में विदिता अन्यत्व वचन से आर्थिकम वर्तमान विदित अन्य अन्य देव तद विदितात विदित सन्य ब्रह्म ये वचन कथन है उसे क्या अर्थ सिद्ध हुआ आर्थिक अर्थ शब्द से तो अर्थ हो गया ज्ञात से भिन्न है तो अर्थ से क्या निकलता है आर्थिक अर्थम उसका अर्थ कहते जो वास्तव अर्थ से निकलता है शब्द से अर्थ निकला ज्ञात नहीं है ब्रह्म तो ज्ञात नहीं हो तो क्या है अपिच व्यक्तम एव विदितम तस्माद अन्यत इति अभिप्राय विदित होता है व्यक्त स्थूलीभूत व्यक्त में वे विदितम अभिव्यक्त नाम रूप जिसका अभिव्यक्त हो गया वही बीते तो ज्ञात होता है व्यक्त में वे विदितम सृष्टि होने पर नाम रूप का अभिव्यक्ति होती है उसके पहले क्या था अव्यक्तम अव्यक्त अव्याकृत माया व्यक्त नाम रूप पर प्रकट हुआ तब तो विदित होता है व्यक्त में विदितम तस्माद अन्यत अभिप्राय व्यक्त से भिन्न जिन नाम रूप अभिव्यक्त हो गए उससे भिन्न है ब्रह्म व्यक्ताद भिन्नम यो ही हाँ, भाष्य में ये भाष्य में अपिच व्यक्तमेव तस्माद तस्मादन्यते अभिप्राय इत्यभिप्रात्य यद विदितं व्यक्तं तदन्य विषयत्वाद अल्पम सविरोधम तत्व अनित्यम अतएव अनेकत्वाद शुद्धम अतएव तद विलक्षण ब्रह्म इति सिद्धम ये आर्थिक अर्थ सिद्ध हुआ अर्थ से क्या सिद्ध हुआ यद विदितम व्यक्तम जो विदित होता है वो व्यक्त नाम से अभिव्यक्त हुआ तो विदित होगा अन्य विषयत्वाद स्वस्य भिन्न विषय के जो विदित होता है तद व्यक्तम अन्य विषयत्वाद ब्रह्म से भिन्न अन्य विषयत्वाद यद विदितम व्यक्तम तद अन्य विषय तो अल्पम स्वरूप से अन्य विषय को होता है ज्ञात होता है दैत विदितम व्यक्तं तद अन्य विषयत्वाद अल्पम तदन्य विषय तद भिन्न विषयत्वाद तदन्य विषयकत्वाद उसे भिन्न होता है अन्य का विषय होता है अन्य से विषय विदित व्यक्त जो ज्ञात होता है वो अन्य का विषय होता है स्वयं विदित ज्ञात नहीं अन्य से विषय अन्य से चिद्रूपस्य ब्राह्मण विषय ज्ञान का विषय होता विदित ज्ञात होता है तो अपने से भिन्न के द्वारा ज्ञात होता है यदि विदितम व्यक्तम तद अन्य विषय अन्य विषय है अन्य विषय होने से क्या हुआ उससे प्रकाश करने वाला कोई दूसरा है भिन्न होने से अल्प हुआ पूर्ण नहीं हुआ ज्ञात होगा तो अन्य का विषय होगा अन्य के द्वारा प्रकाशित होगा जो अन्य के द्वारा प्रकाशित हुआ किसे भिन्न हुआ वो परिचिन हो गया अल्पम और अल्प होगा तो परिचिन हुआ सविरोधम दूसरे उससे भिन्न होगा तो विरोध होगा तत्व अनित्यम और सविरोध होगा तो अनित्य हो जाएगा जिसका विरोध है परस्पर किसके साथ विरोध है तो कभी नष्ट हो जाएगा उससे भिन्न कोई है तो विरोध हुआ विरोध होगा तो अनित्य हो जाएगा अतएव अनेकत्वात् अशुद्धम और अनेक होने से एक नहीं हुआ विदित भिन्न है अनेक होने से अशुद्ध हुआ एक होता है शुद्ध उससे अतिरिक्त होता अशुद्ध हुआ अतएव तद विलक्षण ब्रह्म इति सिद्धम इसे सिद्ध हुआ उसे विलक्षण ब्रह्म जो विदित से अन्य विदित होता अनेक अशुद्ध उससे भिन्न होने से वो तद विलक्षण ब्रह्म ब्रह्म अल्प नहीं होगा मर्त्य नहीं होगा अशुद्ध नहीं होगा जो व्यक्त है वह विदित हुआ उससे अन्य कण से व्यक्त हो गया अल्प परिचिन्न और अशुद्ध और तुझसे ब्रह्म भिन्न कण से वो अल्प नहीं पुण्य अनल्पम वो विरोध नहीं अविरोधम और नित्यम शुद्धम एकम ये सब सिद्ध होता है तद विलक्षण इति सिद्धम ठीक है मैं कार्यात व्यावृत्ति सिद्ध नहीं पहले भाष्य में अस्तुतर अविदितम यदि विदित नहीं तो अविदित हो ना विज्ञान अनपेक्षत्वात् अविदित भी उसको नहीं कह सकते हैं विज्ञान ज्ञान सापेक्ष वस्तु हो जिसकी अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा हो ज्ञान के पहले अविदित कहा जाएगा जिसके ज्ञान की अपेक्षा नहीं है और विदित अविदित दोनों ही ना कहा जाएगा अभिज्ञान अनपेक्षत्वात् यदि अविदितं तद् विज्ञान अपेक्षम अविदित विज्ञान लोक प्रवृत्ति यद्धि अविदितं जो वस्तु अज्ञाते अज्ञात है तद् विज्ञान सापेक्ष होता है ज्ञान सापेक्ष क्योंकि लोक प्रवृत्त होता है अज्ञात को जानने के लिए अविदित वस्तु ज्ञान सापेक्ष है अविदित विज्ञानाय ही लोक प्रवृत्ति लोकानां प्रवृत्ति अविदित विज्ञानाय अविदित जो वस्तु उसको जानने के लिए प्रवृत्त होते हैं देखने के लिए सुनने के लिए अज्ञात वस्तु को प्रकाश करने के लिए प्रवृत्ति होती है जो अविदित है वो विज्ञान सापेक्ष होता है अब ब्रह्म विज्ञान सापेक्ष नहीं होने से अविदित भी नहीं इदं तो विज्ञान अनपेक्षम ये विज्ञान सापेक्ष नहीं विज्ञान निरपेक्ष है ब्रह्म कस्माद विज्ञान स्वरूपत्वात् वो स्वयं विज्ञान स्वरूप है इसे विज्ञान की अपेक्षा नहीं विज्ञान की अपेक्षा करेगा कोई दूसरे वस्तु स्वयं विज्ञान स्वरूप है जैसे प्रकाश स्वरूप दीप अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है इसी प्रकार विज्ञान स्वरूप ब्रह्म से अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है नहीं से स्वरूपम तत्तेन अन्य तो अपेक्षते जिसका जो स्वरूप है तत् स्वरूपम तेन अन्य तो अपेक्षते तेन वस्तुना यस्य स्वरूपम यत तेन अन्यतो अपिचते तत् तत् जिसका दीप का प्रकाश स्वरूप है और दीपेन प्रकाश अन्यतो अपिचते दीप दूसरे प्रकाश की अपेक्षा करेगा ऐसा नहीं क्योंकि स्वरूप है उसका प्रकाश है जिसका जो स्वरूप है और स्वरूप को अन्य वो स्वयं अन्य से उसकी अपेक्षा नहीं करता है न च स्वतः अपेक्षा टीका में आत्मा यदि यद्यपि अन्य तो विज्ञान नापिचते आत्मा स्वयं विज्ञान स्वरूप है अन्य से ज्ञानी की अपेक्षा नहीं करता है तथापि स्वग्राहकत्व स्वस्मादेव विज्ञानम अपेक्षते आत्मा स्वयं प्रकाश है अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है प्रकाशांतर अनपेक्षा होकर के स्वयं प्रकाशमान आत्मा है तो वहां स्वप्रकाश शब्द जैसे प्रयोग करते वेदांत में बौद्ध लोग भी स्वप्रकाश कहते हैं वो कहते हैं ज्ञान रूप कोई नित्य वस्तु नहीं मानते प्रतिक्षण ज्ञान उत्पन्न और नाश उत्पत्ति नाश होता है और ज्ञान स्वप्रकाश का अर्थ करते स्वयं ज्ञान अपने को प्रकाश करेगा उससे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है इसलिए ज्ञान अपने को प्रकाश करता है ज्ञान स्वयं प्रकाशक होगा और स्वयं प्रकाश्य होगा प्रदीप प्रकाशक है घट प्रकाश्य होता है ज्ञान प्रकाशक है विषय घट आदि प्रकाश्य है जिस प्रकार घट आदि ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होते हैं इसी प्रकार ज्ञान प्रकाश का अर्थ बौद्ध लोग को क्या करेंगे ज्ञान स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है ये मानते हैं स्वयं विज्ञान ग्राहक है और स्वयं ग्राह्य है तो विज्ञान से भिन्न नहीं मानते योगाचार मते तु संति मतयस तासाम विवर्तो किल योगाचार मत में सब बुद्धि ज्ञान क्षणिक विज्ञान उससे अतिरिक्त तो कोई पदार्थ नहीं है जो घटपट आदि आप कहते हो ज्ञान ही है ज्ञान को ज्ञान प्रकाश करता है एक ही ज्ञान स्वयं अपने को प्रकाश करता है स्वयं स्वच्छ ग्राहक तो इसी प्रकार यदि ब्रह्म अन्य से ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता है स्वप्रकाश है तथापि ग्राहकत्व स्वयं स्वस्य ग्राहक स्वयं अपने ग्राह्य और स्वयं ग्राहक तो स्वग्राहक होने से स्वस्माद विज्ञानम अपेक्षते तो अपने विज्ञान की अपेक्षा करेगा क्योंकि स्वग्राहक स्वयं ग्राह्य है अपने आप को प्रकाश करने के लिए विज्ञान की अपेक्षा करेगा तेन विज्ञान अनपेक्षतम फिर विज्ञान अनपेक्ष कैसे हुआ तो विज्ञान अपेक्षा हो गया अन्य विज्ञानी की अपेक्षा नहीं करने पर भी स्व की अपेक्षा करते करने से विज्ञान निरपेक्ष नहीं हुआ तो अन विज्ञान अनपेक्षत्व तो हेतु द्याथ सिद्धांति और बौद्ध मत के अनुसार शंका कृत असिद्धम आशंका विज्ञान निरपेक्ष कैसे हुआ वो तो अपने विज्ञान को प्रकाश करेगा स्वयं प्रकाशित होगा ये इसका खंडन करते न सतैव अपेक्षा स्वयं अपने अपेक्षा करेगा ये ठीक नहीं है प्रदीप घट को प्रकाश करने के लिए दूसरे प्रकाश की अपेक्षा करता है हैं अपने को प्रकाश करने दूसरे प्रकाश की अपेक्षा करता है प्रदीप अपने को प्रकाश करने के लिए दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है अपने प्रकाश की अपेक्षा करता है अपने प्रकाश की अपेक्षा करता अर्थ जब तक अपने प्रकाश नहीं आएगा तब तक तो प्रदीप प्रकाशित नहीं होगा प्रदीप जल गया जलते हुए प्रदीप है जब तक अपने प्रकाश नहीं आएगा तब तक अप्रकाश रहेगा और अपने प्रकाश जब आएगा तो प्रकाशित होगा ऐसा होगा प्रदीप तो प्रकाश ही है अपेक्षा करता मतलब अपेक्षा करता है आने के बाद प्रकाशित होगा ऐसा नहीं है अपेक्षा करता कोई व्यक्ति जाने के लिए दूसरे की अपेक्षा करता है वो आ जाएगा तो दोनों जाएंगे एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा करता है देश आरती करते हैं कि पुजारी दूसरे की अपेक्षा करता है दूसरे तैयार हो गया तो दोनों आरती शुरू करेंगे एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं इसी प्रकार प्रदीप अपने को प्रकाश करने के लिए अपने प्रकाश को अपेक्षा करेगा अपने प्रकाश को अपेक्षा करेगा प्रदीप तो प्रकाश ही है और अपने प्रकाश आएगा क्या इसलिए नच स्वतैव अपेक्षा स्वतैव अपेक्षा ये बात नहीं है स्वयं अपने कैसे अपेक्षा अनपेक्षा में आते किसी की अपेक्षा नहीं करके सिद्ध ही प्रकाश रूप है इसलिए ज्ञान विज्ञान स्वरूप है आत्मा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप अपने आप को अपेक्षा करेगा अपने आप अपने को प्रकाश ऐसा नहीं अनपेक्षा होकर के सिद्ध है निरपेक्ष सिद्ध है किसी प्रकाश की बिना टीका में स्वभावतया अनपेक्षमेव सिद्धत्वाद अपेक्षा शब्दार्थ न घटते उसका स्वभाव है अनपेक्षमेव सिद्धता निरपेक्ष होकर सिद्ध है यदि अन सापेक्ष होगा तो किसकी अपेक्षा करके सिद्ध होगा जो पर सापेक्ष होगा उसकी अपेक्षा से सिद्ध होगा नहीं तो सिद्ध नहीं होगा किंतु ब्रह्म तो आत्मा अनपेक्ष ही सिद्ध है अपेक्षा शब्दार्थ न घटते अपेक्षा शब्द का अर्थ अपेक्षा शब्द करेंगे किसकी अपेक्षा किसके प्राप्त हो लिप्सा लब्ध न लब्धे जो स्वतः सिद्ध है उसकी अपेक्षा क्या नहीं होती स्वतः सिद्ध नहीं तो अपेक्षा करेगा इसलिए स्वयं अपने आप अपने को प्रकाश करता है ये नहीं बनेगा और स्वयं विज्ञान स्वग्राहक ये ठीक नहीं है स्वग्राहक तुम च सिद्धम ज्ञान स्वयं अपने ग्राह्य स्वग्राहक एक में ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व तो नहीं हो सकता है कर्तृत्व और कर्म तो एक में नहीं होता है स्ववृत्ति विरोधा स्ववृत्ति विरोधा स्वस्मिन व्यापारे विरुद्ध कर्म तो कर्तृत्व प्रसंग विरुद्ध है स्व व्यापार में स्वयं कर्ता और कर्म व्यापार का कर्ता चैत्र गच्छति गमन व्यापार का कर्ता है चैत्र कर्म होता है ग्राम ग्रामम गच्छति स्वयं कर्म स्वयं कर्ता नहीं हो सकता स्वयं ग्राह्य स्वयं ग्राहक ये ठीक नहीं है एक में कर्तृत्व कर्मत्व एक समय में एक क्रिया निरूपित कर्तृत्व कर्म तो नहीं आ सकता है गमन क्रिया का कर्ता है चैत्र तो कर्म नहीं कर्म ग्राम है तो कर्ता नहीं अन्य क्रिया का कर्ता अन्य क्रिया का कर्म ही हो सकता है चैत्र गच्छति गमन क्रिया का कर्ता कौन है चैत्र गच्छन्तम चैत्रम मैत्र पश्यति चैत्र जो चल रहा है उसको मैत्र देख सकता है देखता है दर्शन क्रिया का कर्म हो गया गमन क्रिया का कर्ता है चैत्र और दर्शन क्रिया का कर्म हो गया किंतु एक ही क्रिया का स्वयं कर्ता और कर्म ये नहीं हो सकता है इसलिए स्वतः स्वग्राहक ज्ञान स्वयं अपने को प्रकाश करेगा ये ठीक नहीं विज्ञान सजाति अनपेक्ष प्रकाशम प्रकाशत्वात् प्रतिवत इति अनुमानम अभिप्रेत दृष्टान्तमः दीप प्रकाश करता है किस अन्य को प्रकाश करता है किसको घट आदि को दीप किसको प्रकाश करता है घट नहीं रहेगा तो दीप बुझ जाएगा दीप किसको प्रकाश अपेक्षा करता है दीप सजातीय प्रकाश अन्य प्रकाश की तो अपेक्षा नहीं करता है किंतु ज्ञान की अपेक्षा करता है ज्ञान होने से दीप प्रकाशित तो होगा आपको ज्ञान नहीं हो तो दीप प्रकाश कैसे पता चलेगा तो ज्ञान रूप प्रकाश की अपेक्षा करने पर भी सजातीय प्रकाश सापेक्ष नहीं ज्ञान प्रकाश अलग और भौतिक प्रकाश अलग दीप में जो तेज का प्रकाश है वो दूसरे दीप की सूर्य चंद्र दूसरे प्रकाश की अपेक्षा करता है ना करता है नहीं करता है सजाते प्रकाश नहीं विजाते ज्ञान की अपेक्षा करने पर भी दीप सजाते प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है जैसे विज्ञान दीप सजाते प्रकाश अनपेक्षम तद्वत विज्ञानम सजाते अनपेक्षम प्रकाशम सजातन अपेक्षा प्रकाशस्य प्रकाशत्वात् प्रदीपवत प्रदीप जैसे सजातीय प्रकाश अपेक्षा नहीं करता है विज्ञान भी सजातीय प्रकाश अपेक्षा नहीं करेगा इति अनुमान अपेक्षा दृष्टांत कहते नहीं नहीं प्रदीप स्वरूप अभिव्यक्तो प्रकाशांतरम अन्य तो अपेक्षते सतोवा यद्यनपेक्षम तत् सतैव सिद्धम प्रदीप स्वरूप अभिव्यक्तो स्वरूप की अभिव्यक्त होने के लिए दूसरे प्रकाश की अपेक्षा करेगा जलते हुए को प्रदीप कहते जलाने के पहले उसका नाम प्रदीप नहीं है प्रयोग कर देते दीप लाओ दीप लाओ जलाओ दीप को जलाओ प्रज्वलित है प्रदीप दीप प्रज्वलित होने पर स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे प्रकाश का पीछा करें अन्य से प्रकाशांतरम अन्य तो न अपेक्षते स्वतोवा स्वयं अपेक्षा करेगा प्रकाश हो गया तो यद्य अनपेक्षम सतैव सिद्धम यद्यानपेक्षम जो अनपेक्ष है स्वतः सिद्ध है प्रदीप अभिव्यक्ति के लिए ना तो दूसरे प्रकाश को प्रकाश करता है ना तो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है स्वतः सिद्ध है टीका में तमध्वस्ते आलोक अपेक्षा आलोक की अपेक्षा अंधकार निवृत्ति के लिए अभाव से आलोके अभाव से अंधकार है आलोक में प्रदीप में प्रदीप में अंधकार है क्या तदभाव से आलोक सतैव सिद्ध आलोक में अंधकार सत्य अंधकार का अभाव सत्य सिद्ध अंधकार की निवृत्ति के लिए आलोक की आवश्यकता प्रदीप में यदि अंधकार होता उसकी निवृत्ति के लिए अन्य आलोक लाते प्रदीप जलने के बाद उसमें थोड़ा अंधकार रहेगा जिसकी निवृत्ति के लिए दूसरे प्रकाश लाना ऐसा होगा नहीं तद अभाव से आलोक स्वतः सिद्ध प्रदीप में अंधकार का अभाव सत्य सिद्ध इसलिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं इसे सजात्य दे आगे कहीं सजात्य क्यों दिया विज्ञानम सजात्य अनपेक्षम प्रकाशम प्रकाशत्व जो अनुमान दिया इसका स्पष्टीकरण आगे है ओम आप्यायन्तु ममांगान वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो